ईश्वर परिधान से और क्या होगा किंच भगवती ये भी साधकता क्या और होगा और दूसरा क्या है उसका उत्तर ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराया भाव ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो की प्रत्येक चैतन्य का अधिगम ज्ञान है अंतराया नाम अभाव अंतराय विघ्न है उसका अभाव विघ्न का अभाव ये दोनों टीका में प्रत्येक कहते प्रतीपम अंत प्रति प्रत्येक प्रति और अंत से सत्य बनता है विपरीत अंतरित जाना जाना प्रत्यय विपरीत जानने वाला प्रत्यय आत्मा तत्व चेतन से प्रत्येक चेतन इति प्रत्येक चेतन विपरीत जानने वाला कौन है अविद्यावान पुरुष इसलिए प्रत्येक चेतन हो गया अविद्यावान पुरुष तदन ईश्वरा सांस्कृतिक सत्वोत्कर्ष संपन्ना विद्यावत निवर्तयती ये अनेक शाश्वतिक सत्योत्कर्ष संपन्न ईश्वर है नित्य सत्योत्कर्ष वाला उत्कर्ष संपन्न युक्त है उससे विद्यावान विद्वान का अभेद करते निवर्त ये अलग है ईश्वर के अनुग्रह से इसके प्रत्येक चेतना अधिगम होगा और ईश्वर तो नित्य सत्योत्कर्ष है उसे भिन्न है ये अविद्यावान है ईश्वर में अविद्या नहीं है संपन्ना विद्यावत निवृत्त अविद्यावत प्रतीच चेतन से अधिगम विद्या जो ईश्वर है उसे भिन्न है प्रत्येक चेतन ईश्वर को ईश्वर से प्रत्येक चेतन को भिन्न करते हैं ईश्वर जो शाश्वत के सत्योत्कर्ष संपन्न है और विद्वान है ज्ञान है सर्वज्ञ उससे निवर्त है किसको प्रत्येक चेतना को ईश्वर से भिन्न है ये इनके मत में जीवेश्वर का भेद है प्रत्येक जीव ईश्वर का भी भेद मानते हैं अभिजावत प्रतिष्ठ प्रतीत चेतन से अधिगम अविद्या वाले प्रत्येक आत्मा है उस चेतन का ज्ञान स्वरूपम अत्य भगवती प्रत्येक चेतन अधिगम स्वरूप तो स्वरूपतः प्रत्येक स्वरूप का ज्ञान होता है जो अविद्यावान चेतन है प्रत्येक चेतन पुरुष उसका ज्ञान होता है स्वरूपतः ज्ञान होता है योगी का और दूसरा है अंतराया भाव से अंतराया वक्षमाना देखना आगे सूत्र में कहेंगे तदभाव से तदभाव में कैसे समाचार का विग्रह इसको पहले अंतर आया माना है एक वचन है गोचन है आगे तदभाव होगा तो सस्य नहीं तेसाम भाव तेसाम के साम अंतराय हाँ, विघ्राना अस्य विवरण ये तावत अंतराया जाति प्रभुत ते तावत ईश्वर परिधाना न भवंती जो विघ्न है समाधि अनुष्ठान करने में व्याधि प्रवृत्ति आगे चित्र में कहेंगे वो विघ्न इस तरह प्रणिधाना न बनती इस तरह चिंतन करने से वो विघ्न निवृत्त हो जाते हैं स्वरूप दर्शनम अपेक्षा भवती अच्छे योगी ना स्वरूप दर्शन स्वरूप दर्शन ज्ञान होता है सत्य स्वरूप का स्व रूपम स्वरूपम स्व है आत्मा तत्व रूपम आत्मा का जो रूप स्वरूप है रूप ग्रहण न अविद्या समारोपितान धर्मान सभी स्वरूप ग्रहण होता है आत्मा में अविद्या से आरोपित तो बहुत धर्म है उनका नहीं जो उसका वास्तव रूप है उसका ग्रहण ज्ञान होता है स्वरूप स्वरूप ज्ञान अन्य आरोपित धर्म विशिष्ट तो नहीं स्वरूप ज्ञान होता है ननु ईश्वर प्रणिधानम ईश्वर विषय ईश्वर का प्रणिधान ध्यान चिंतन करना तो ईश्वर का चिंतन करना जिस विषय का चिंतन होगा उस विषय का ज्ञान होना चाहिए चिंतन करेंगे ईश्वर विषय का और ज्ञान होगा प्रत्येगात्मा का ये कैसे होता है ईश्वर विषय के प्रणिधान कथम एवं प्रत्येक चेतन साक्षात करोगी प्रत्येक चेतन को साक्षात्कार कैसे करेगा अति प्रसंग अति प्रसंग ऐसे है घट व्याकरण जानने की इच्छा है तर्क संग्रह उत्तम पढ़ने लगा न्याय पढ़ने की इच्छा है तो मोबाइल लेकर बैठ गया अति तो प्रश्न अन्य के चिंतन से अन्य ज्ञान हो जाएगा तो लघु को चित्र कौन याद करेगा अति प्रसंग यही जब अन्य से अन्य ज्ञान हो जाए तो जिसको जानना है उसको छोड़कर दूसरे की चिंता करो ऐसा तो नहीं होता है तो ईश्वर विषय को ध्यान चिंतन करेंगे तो प्रत्येगात्मा का ज्ञान कैसे होता है ऐसा संक्रांत कहते हैं यथे ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न केवल अनुपसर्ग तथा की बुद्धि पति समृद्धि या पुरुष इति एवं अधिगछति जो अद्वैत मत में तो ऐसा होता है चिंतन करें तो प्रत्यात्मा ज्ञान होता है तो सत्यात्मा सर्व ब्रह्म ही है अपना स्वरूप चिंतन कर ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्म अपना स्वरूप है किंतु यहाँ भेद है योग दर्शन में ईश्वर जीव भेद है तो ईश्वर चिंतन करने से जीव का ज्ञान कैसे होगा यथेव ईश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न ईश्वर पुरुष है पुरुष शुद्ध है प्रसन्न है सत्य है प्रसन्न कुछ इसमें अविद्या रहित होना केवल है मुख्य को प्राप्त कर्म से कैवल्य को प्राप्त कर्म से केवल हो गया अनुपसर्ग उपसर्ग है कर्म कर्म फल रहित है ठीक इसी प्रकार अयम भी ये प्रत्येगात्मा भी ऐसा ही हो जाता है प्रत्येगात्मा कौन बुद्धि है प्रति संवेदी यह पुरुष बुद्धि को जानने वाला प्रकाश करने वाला जो पुरुष है ये ऐसे ईश्वर के समान हो जाता है एवं अभिगत निश्चय ज्ञान को प्राप्त करता है शुद्ध ये ईश्वर पुरुष शुद्ध है कूटस्थ नित्यतया उदय व्यवहित ये शुद्ध हुआ नित्य दो प्रकार मानते हैं परिणाम नित्य और कूटस्थ नित्य परिणाम नित्य कौन है प्रकृति है प्रधान परिणाम नित्य है और कूटस्थ नित्य है पुरुष चेतन कूटस्थ नित्यता कूटस्थ नित्य जो होगा उसमें परिणाम नहीं होता है उत्पत्ति उदय व्यय नहीं है उत्पत्ति प्रय नहीं है प्रधान है त्रिगुणात्मक साम्यावस्था में प्रधान कहते उस कूट परिणामी नित्य होने से उसे बुद्धि महत्व महत्व को बुद्धि को महत्व कहते हैं उसे अहंकार तन्नात्र आदि की उत्पत्ति होती है फिर प्रलय होता है परिणाम को प्राप्त करता है फिर प्रकृति रहती है नित्य है परिणाम नित्य है उसमें उदय व्यय है किंतु पुरुष है कूटस्थ नित्य होने का उत्पत्ति नाश रहित है इसलिए शुद्ध है अप्रसन्न है क्लेश वर्जित अविद्या राग देश अभिनेश क्लेश पंच क्लेश है उसे रहित उनसे प्रसन्न सत्य है केवल केवल से भाग कैवल्य केवल है सिद्ध धर्मा धर्म अपेता कैवल्य को प्राप्त क्या हुआ कैवल्य भी कहा गया भाष्य का में भाष्य कहते धर्म रहित है धर्म आदर रहित उनसे कभी बंधन नहीं नित्य मुक्त है अतएव अनुपसर्ग इसलिए अनुपसर्ग उपसर्ग रहित क्योंकि उपसर्ग है कर्म फल कर्म कर्म पर विपाक जाति और भोग ये कर्म का फल है जन्म आयु और भोग कर्म के अनुसार जन्म होगा किस जन्म में किस स्थान में जाति आयु है कितने आयु प्राप्त करेगा भोग सुख दुख भोग कितना क्या करेगा ये कर्म क्या दिन है ये सब उपसर्ग का धर्म आधरण के कारण और ईश्वर में धर्म आधर्म नहीं होने से उपसर्ग नहीं जन्म आयु भोग कुछ नहीं इसलिए अनुपसर्ग कर्म फल रही सही सादृश्य से किंचित भेदाधिष्ठान ईश्वरादि भिन्न ईश्वर के सदृश है जीव पुरुष सादृश्य होता है तद भिन्न सति तदगत भूयो धर्मगत्व आदृश्य का लक्षण बताते हैं चंद्र मुख मुख को चंद्र के समान का किस मुख गोल वर्तुलाकार है आह्लादक है चंद्र से तो भिन्न है चंद्र के अधिक धर्म उपनयन से सदृश कहा गया कुछ धर्म को लेकर के गौरी व गवय गवय के प्राणी है गो के समान है उसे भिन्न तो है किंतु उसमें स्थित बहुत सादृश्य धर्म है तद भिन्न से तदगत भूयो धर्म वतम उसमें जो धर्म गो में वो धर्म गवय में दिखता है इसे गवय हो गया गो के सदृश किंतु भिन्न होना चाहिए एक होगा तो सादृश्य व्यवहार नहीं होता है सादृश्य से किंचित भेदाधिष्ठान किंचित भेद में ही रहेगा भेद घेर होने पर आश्रित होगा ईश्वरादि में इसलिए ईश्वर से भिन्न है प्रत्येगात्मा बुद्धि है प्रतिसंवेदी पुरुष है बुद्धि का प्रकाश करने वाला पुरुष है एक प्रकार व्यवहार करते हैं अलंकार अनन्य अलंकार एक में भी शब्द से प्रयोग करते हैं सागरम सागरूपम गगनम गगनाकार सागरम सागरम को राम रावण युद्ध राम रावण युद्ध गगन कैसा है गगन कम तो गगन के जैसे गगन गगनाकार सागर सागर के समान है राम रावण का युद्ध राम रावण युद्ध के समान है तो एक में से प्रयोग करते इसे और उसका तो उसके शब्द से कोई है ही नहीं इसलिए इस अलंकार में एक में कह देते हैं वहाँ वास्तव तो वस्तु तो से नहीं है एक में नहीं है उसके बिना नहीं कहने के लिए उसके जैसे हुई तो परमात्मा को कोई बड़ मांगता आपके जैसे पुत्र मिल जाए तो उनकी जैसे कोई नहीं मिला तो स्वयं फिर बन जाते पुत्र तो स्वयं बन जाने से कैसे होगा वो तो चाहता आपके जैसे तो आपके जैसे तो स्वयं कैसे आए वो तो मिथ्यावादी हो जाएंगे तो अपने एक कह उसमें भी उनके उनके जैसे वही है और कोई नहीं भगवान उनके जैसे दूसरा कौन होगा वही है इसे वही पुत्र बन जाते हैं इसी प्रकार एक में भी कहीं कहीं प्रयोग होता है मुख्य सादृश्य नहीं है वो तो उससे भिन्न कोई नहीं कहने के लिए तो जहाँ सादृश्य होगा वहाँ जरूर भेद रहेगा इसमें यह है जीव बुद्धि का समय बुद्धि को प्रकाश करने वाला साक्षी है तदन प्रत्यय ग्रहण व्याख्यातम जो प्रत्येक चेतनातिका में प्रत्येक सूत्र का इसका व्याख्यान हुआ अत्यंत विधर्मिण और अन्यतरार्थम चिंतनम न तद इतर से साक्षात्कार है कल्पते दोनों दोनों में अत्यंत विधर्म है विपरीत है एक चिंतन करें तो अन्य ज्ञान होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है व्याकरण ज्ञान होने के लिए लोगों की सूत्र रखना पड़ेगा और दूसरे दूसरे लेकर के कुछ चित्र आदि देखता रहेगा बुरा होकर के मर करके फिर जमा करके मर करके कितनी बार लगे व्याकरण ज्ञान कैसे होगा तो कभी ना कभी रटना पड़ेगा अभी हो कभी हो कभी होता है अत्यंत विशद सामने से उसके विपरीत कोई होगा तो एक ज्ञान चिंतन करें तो अन्य ज्ञान नहीं होता है विधर्मिणो अन्य आत्मन चिंतन चिंतन करेंगे ईश्वर का साक्षात्कार के समस्त नहीं होता है किंतु सदृशार्थम अनुचिंतन करेंगे तो सदृशांतर साक्षात्कार उपयोगी अनुभव अनुभवती गभरे कहता है गो को दिखा दिया इसके यहाँ देते व्याघ्र जिसने दिखा नहीं कहता बिलाल का दिखा था बिराल जैसे इस प्रकार व्याघ्र है उसको देखते जिसने चिंतन करता है दिमाग में बैठा फिर कभी बड़े देखने को निश्चय रहता ये व्याघ्र होगा तो सदृश होने से बार बार चिंतन करें तो चिंतन तो सदृशांतर साक्षात्कार उपयोगिता होती एक सदृश से चिंतन करें तो अन्य सदृश अंतर साक्षात्कार का उपयोगी होता है एक शास्त्र अभ्यास है तो सदृश अर्थ शास्त्रांतर ज्ञान उपयोगिता एक शास्त्र का अभ्यास करें तो उसके सदृश अन्य जो अर्थ वाले शास्त्र दूसरे शास्त्र ज्ञान का उपयोगी है एक शास्त्र के चिंतन करे तो अन्य उसके समान है लघु ग्रंथ नहीं पढ़ा किंतु कुछ अन्य व्याकरण है उसको पढ़ेंगे एक सारस्वत व्याकरण है और कुछ अनुवाद चंद्रिक है अन्य ग्रंथ भी है सदृश शास्त्रांतर ज्ञान उपयोगिता को प्राप्त करता है एक शास्त्र का अभ्यास प्रत्याशक्तिस्तु स्वात्मनि साक्षात्कार हेतु न परमात्मनि इति सर्वम अवधारण प्रत्याशक्ति संबंध है अपने चिंतन करने वाला प्रत्येगात्मा है जीव उसका संबंध अपने में है इसलिए आत्मनि साक्षात्कार हेतु अपने स्वरूप का साक्षात्कार कहते परमात्मा परमात्मा का चिंतन करता है कि चिंतन करने वाला प्रत्येगात्मा है इसे प्रत्येगात्मा का प्रत्येक चेतन अधिगम होता है यदि सर्व अवधातम निर्दिष्टम शुद्धम ये ईश्वर प्रणिधाना एक तो प्रत्येक चेतन अधिगम दूसरा अंतराय अभाव विघ्न का अभाव अतः के अंतराय ये चित्त से विक्षेप का अंतराय विघ्न कौन है के कौन है उसका दिया जिस पुस्तक के विक्षेप को विक्षेप करने वाले अंतराय उसको ही विघ्न माना जाता है जो अपने करना चाहते उसका विक्षेप करने वाले ही विघ्न है के पुनस्ते चित्त के विक्षेप लाने वाले कौन है कियंतो वा और कितने है ऐसा प्रश्न होने पर इसका उत्तर ठीक है मैं कई कैसे का क्या अर्थ है उच्चति कई क्या उसका अर्थ करेंगे हाँ के अंतर आया ऊपर जो असर के अंतर आया उसका प्रतीक ले लिया के के के ला करके कई होने से ऐसी होकर के क इति लिखा है कौन के अंतर आया और ये चित्त से सामान्य उत्तरण ये चित्त से विषय पदा यह इति कह दिया अरे विशेष संक्षेप इच्छति विशेष संख्य में क्या समाप्त होगा क्या विभूति वचन विशेष संख्य क्या विभूति विशेष संख्य है द्वितीय विवचन है विशेष संख्या से विशेष संख्य ते पृथ्वी विशेषम पृथ्वी संख्या विशेष कौन है सामान्य के पुनस्ते ये विशेष प्रश्न है संख्या प्रश्न कहाँ है कि अंतवा हुआ संशय प्रमादालस्या विदति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमि तत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाते अंतराया कितने पद रह गए सूत्र में सूत्र में कितने पद है प्रश्न गिनती करके फिर बोलो दस कौन का था किसने बताया और अधिक कोई है किसके पास हिसाब कितने पद है यह चार अनावश्यक तत्व अनवस्थित तत्वानितक तेज पद है और बीच में के ते है और ते के पहले के पद है आगे के पद है ते के पहले क्या पद है हाँ, चार पद हो गए व्याधि त्यानम संशय प्रमाद आलस्य च भ्रांति दर्शन च अलाध भूमिकत्व च कितने हो जाएंगे किसने गिनती की कितने गए बारह तक पूछ नव नव नव अंतराया चित्त से विषय दिया है नव है ते अंतराया है ये विच्छेद तो करने वाले ये एक एक रथ देते हैं नवांतराया नव का क्या है नव संख्या नया अर्थ नहीं नव का तो नूतन भी होता है ये नव है नव संख्या वाले नव ये सत्य विक्षेप है विक्षेप सहते चित्तवृत्ति भी भवंती ऐसे चित्तवृत्ति भी सवंती ये तो विघ्न चित्तवृत्तियों के साथ होते हैं इति भवंती एतेषाम अभाव न भवंती एतेषाम अभाव चित्तवृत्ति के साथ ये नहीं होंगे विक्षेप तो नहीं होगा पूर्वोक्ता चित्तवृत्तया एतम अभाव न भवंत केवल चित्तवृत्ति नहीं होंगे और जब ये विग्रह से चित्तवृत्ति होते ये सब होने से चित्तवृत्ति का अभाव होना चाहिए ये विघ्न नहीं रहेगा तो चित्त शांत होगा वृत्ति नहीं होगी और विघ्न है तो चित्त स्थिर नहीं रह सकता है भागे इधर उधर चित्त को स्थिर करना है व्याधि रोग कहते धातु रस कर्ण वैषम्यम धातु रस कर्ण वैषम्यम धातु होता है वास्तविक तत्व सदाशील से धारणा धातु है इनके विषमता से ही शरीर में रोग होता है और रस होता है जो भोजन क्या किया भोजन का परिणाम रस होता है तो कर्ण इंद्रिया उनके विषमता होने से ही रोग व्याधि होती है ध्यान का सकर्मण्यता चित्त से चित्त कर्म में हो जाएगा कुछ कुछ नहीं कर सकता है अकर्मण्य चित्त और ये अकर्मण्यता का अर्थ नहीं जिससे निरोध हो जाएगा ऐसा नहीं यही प्रत्येकता का ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधि करने के लिए अकर्मण है तो ध्यान भी नहीं कर सकता है धारणा भी नहीं कर सकता है ये है ज्ञान संशय उभय कोटि स्थित विज्ञान दोनों कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान उभय कोटि स्थित उभय कोटि को स्पर्श करने वाले उभय कोटि क्या है वनिमा नवा त्याद इदम एवं नैवम त्याग ये हो गया इदम त्याग नैवम त्याग चौरो स्थाणुवा स्थाणुर्वा चौर स्थाणुर्वा ये उभय को विभाव अभाव उभय को टिको वन्य है अथवा वन्य अभाव है ये संशय है क्या लक्षण करते संशय का तर्क स्थान बनने वाले एक धर्मिणी नाना विविध धर्म अवगा ज्ञान अनेक वन्यमान हुआ एक पर्वत में पर्वत तो वन्यमान हृदय वन्य भावान ये संशय ना नहीं नाना विरुद्ध धर्म अग्राही है वन्य और वन्य एक धर्म होनी चाहिए धर्म दो हो गया पर्वत है कि हृदय के एक ही धर्म में नाना विरुद्ध धर्म अवधायी एक घट को लिया घट मृत नाना हो गया एक ही धर्म है घट एक है नाना को अवगाही करने वाला ज्ञान ये संशय ना नहीं घट मृत है ये संशय क्यों नहीं है ये विरुद्ध होना चाहिए घट मृत विरुद्ध नहीं वन्नी बने हुआ जैसे विरुद्ध है इसे विरुद्ध नहीं घट मृत मृत घट है इसी प्रकार एक धर्म विरुद्ध नाना धर्म अगर है ज्ञान नाना धर्म एक कहेंगे अयम घट इस संशय नहीं है इदम स्याद एवं स्याद एवं एवं स्याद ये तो ज्ञात संशय और प्रमाद क्या है समाधि साधना नाम अभावन समाधि साधना नाम अभावन अनुष्ठानम नहीं करना ये प्रमाद है जो करने के लिए करने के लिए मनुष्य जन्म मिला वही नहीं करे तो उसका नाम प्रमाद है जो करना चाहिए कर्तव्य समझ करके करना चाहिए नहीं करना है प्रमाद है योग अनुष्ठान करते समय समाधि साधन अनुष्ठान करना चाहिए नहीं करना है प्रमाद आलस्यम काय से चित्त से गुरुत्वाद अप्रवृत्ति गुरु होने से जड़ रूप हो गया शरीर सीधा बैठना बड़ा कठिन है आलस्य आने पर अभी चित्त से चित्त जैसे बहुत विषय चिंतन करे चित्त थक जाता है कभी देखो बहुत इधर विषय चिंतन कर थक जाता है थोड़ी देर शांत होकर बैठे सब छोड़ करके फिर शांत होता है चित्त प्रसन्नता आती है कोई बात करने वाले भी बहुत बात करते करते थक जाते हैं फिर जाकर सो जाते हैं वृत्ति निरोध करना तो कठिन है जाकर सो जाए मस्तिष्क वगैरह खेलते दौड़ते कूदते है फिर तुरंत जाकर लेडी कैसे नहीं जा रही सो जाए ये रहता है आदत होने पर चित्त की अप्रवृत्ति अविरति विरति का अभाव विरत नहीं होता चित्त अर्थात तो विषय ग्रहण करने में बड़े कुशल है कोई अध्ययन करने में कुशल है कोई विषय चिंतन में बड़े कुशल है इस प्रकार दो प्रकार होते हैं कुशलता तो कौशल सब में है ठीक रास्ता में लगाए तो आता है ठीक लगाए कौशल में लगाए तो अन्य रास्ता में कुशलता बढ़ती है ये इस प्रकार है विषय संप्रयोगात्मा गर्भस्थ विषय के साथ संप्रयोग सन्निकट रूप गर्भ तृष्णा है विषय ग्रहण करने लिए तृष्णा है ये हो गया अभिरत वैराग्य नहीं तो विराम नहीं होता तो भ्रांति दर्शन है विपर्य ज्ञान विपर्य मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठान का भ्रम ज्ञान अलग भूमिकत्व समाधि उमेर अलाभ समाधि भूमि का लाभ प्राप्त नहीं होना अनवस्थित लाभ होने पर भी ये लब्धायाम भूमो चित्त से प्रतिष्ठा भूमि की प्राप्ति होने पर भी चित्त उसमें स्थिर नहीं हो समाधि प्रतिलंब ही तद अवस्थितम चार समाधि प्राप्त होने पर उसमें स्थित होकर के रहे तो प्रतिष्ठित नहीं हो तो वो भी चल जाएगी इतने चित्त विक्षेपा नव योग मला है योग के मल विक्षेप ये न है योग प्रतिपक्ष है योग के विरोधी योग अंतराया इसे अभिधीयते उनको योग का अंतराय विघ्न ऐसे कहा जाते हैं ठीक है व्याधि तो केवल उसके पहले प्रभुत तेपि वृत्ति अंतराया नव न विघ्न है एटा चित्तवृत्तयो योग अंतराया योग विरोधी न ये सब चित्तवृत्ति योग के विघ्न योग के विरोधी चित्त से विक्षेपा विक्षेप करने वाले चित्तम खी व्याध्यादय योगादि विक्षिपंती ये व्याध्यादि सब चित्त को विक्षेप करते हैं विक्षेप करते क्या अपने हटा देते हैं जिसमें लगाना चाहिए हटाकर अन्य विषय में लगा देते हैं इससे विक्षेप है योग प्रतिपक्ष हेतु महाराज योग के विरुद्ध क्यों है क्योंकि सह ऐसे चित्तवृत्ति भगवती चित्तवृत्ति के साथ ये तो होते हैं संशय भ्रांति दर्शन कारो तो वृत्ति तया वृत्ति निरोध पक्ष प्रतिपक्ष संशय की वृत्ति है भ्रम ज्ञान एक वृत्ति है वृत्ति निरोध की विरोधी जो संशय वृत्ति भ्रम ज्ञान है वृत्ति निरोध कैसे होगा वृत्ति निरोध का विरोधी है ये न वृत्तय अन्य जैसा वृत्ति नहीं चित्त की व्याधि आदि अलब्ध भूमिकत्व तत्व ये तो वृत्ति नहीं है व्याध्यादि है व्याध्यादि ये वृत्ति नहीं तेती वृत्ति साहचर्या तत्प्रतिपक्षा वृत्ति के साथ होते हैं इसे वृत्ति का विरोधी है पदार्थान व्याचस्य सूत्र में जो पद है व्याधि संत्यादि पद उनके अर्थ की व्याख्या है में जादी धातवे वात पित्त स्मान वात पित्त श्लेष्मन तद नकार श्लेष्मान कप है वात पित्त कप आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते इसी चिन्ह से रोग होता है न्यूनाधिक होकर के ये शरीर के धारणा है धारण करने से धातु हो गया धा धातु से तून प्रत्यय हो जाता है धातु बहुत धातव और धातु रस कर्ण वैषम्य में व्याधि है धातु क्या गया है रस अशित पीत आहार परिणाम विशेष रस जो खाया हुआ अशित पीत पान किया आहार उसका परिणाम विशेष हो गया रस खाने पर अंदर रस होता है कर्णानी इंद्रियान तेषा वैषम्यम उनकी विषमता क्या न्यूनाधिक भाव वात पित्त कब शरीर में है न्यूनाधिक होने से रोग होता है रस में भी इसे न्यूनादि को कैसा रस को होने पर अकर्मण्यता आ गया है ज्ञान संशय प्रमाद हो गया अकर्मण्यता त्यान का तो अकर्मण्यता ये जो अकर्मण्यता का अर्थ करते कर्मा अनर्हता कर्म करने के लिए अर योग्य नहीं रहता है अकर्मण्य संशय उभय को स्त्री विज्ञानम उभय कोटि को भाव अभाव दोनों को स्पर्श करने वाले विषय करने वाले ज्ञान संशय है ये संशय भी भ्रम के अंतर्गत है सत्य के असदरूप प्रतिष्ठत है ना क्योंकि तद्रूप प्रतिष्ठा नहीं है भ्रम ज्ञान जैसे राष्ट्र रूप में प्रतिष्ठित नहीं है ये भी संशय भी राष्ट्र रूप में प्रतिष्ठित नहीं होने से एक ही संशय विपर्यास रवेद है दोनों ही असद्रूप प्रतिष्ठा है फिर भी दोनों में भेद इतने संचत तो उभय कोटि स्ट्रिक उभय कोटि को तो स्पष्ट करने वाला और विपर्य एक कोटि में विपर्य सर्प ये भ्रांति ज्ञान और सर्प व नवा ये संशय है इतने भेद को लेकर उभय कोटि स्पर्शा स्पर्श रूपा अभांतर विशेष विवक्षा असर भेद है ना संन्यास संशय ज्ञान का पत्र विषय उभय कुटि में भाव अभाव उभय कुटी होता है उभय कुटी स्पर्श भ्रम ज्ञान में उभय कुटी स्पर्श नहीं एक कुटी विपरीत ग्रहण होता है स्पर्श उभय कुटी का स्पर्श यही दोनों में अभांतर अंतर्गत विषय है इसकी विवक्षा वक्तुम इच्छा विवक्षा यही भेद कहने की इच्छा से इसी सूत्र में भेदेन उपन्यास भिन्न रूप से उपन्यास कथन किया गया संशय अलग कहा गया और विपर्य अलग कहा विपर्य कहा था विपर्य अलग हाँ। हाँ, इसमें भ्रांति दर्शन आया ये और आगे आया आ प्रमाद का समाज साधना नाम अभावन अभावन का प्रकरण तत्र अप्रयत्न यही प्रयत्न नहीं करना यही प्रमाद है दस सालों में कभी मतलब लघु नहीं होती प्रमाद कर तो कभी नहीं होगा प्रयत्न करना जोर लगाने से होगा और करेंगे करेंगे आगे कहेंगे आगे शिवरात्रि के बाद करेंगे तो तो चतुर्मा से गुरु बने गया तो त्रिशूल से लगाएंगे ऐसे चलता रहता है दस साल में भी लघु हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है नाग जी कहते थे कोई बारह वर्ष लग करके लघु कर दे पूरा अच्छी तरह से अच्छी तरह से मैं जहाँ भी प्रश्न करूँगा उत्तर दो ये कोई बड़ा सरल नहीं है जैसे बड़े बड़े की परीक्षा हो जाती लघु करूँगी तो बहुत कठिन है कठिन क्या पढ़ लिया और भूल भी लिया तैयारी है जहाँ भी कितने धातु रूप है जहाँ पूछो जिस धातु का जिस लगा रूप पूछो बता दे समाचार भी बता दे ये सब उसमें से तो लघु कवल यदि ठीक से किसकी हो जाए तो अध्ययन आधा पूरा हो गया आधा विचार बन गया अच्छी तरह से हो जाए पढ़ी जी लिया आता कुछ नहीं केवल प्रमाण पत्र लेकर हमारे लघु हो गई ऐसे तो बहुत है <laughs> ऐसे नहीं बिल्कुल तैयार हो जाए तो सिद्धांत पढ़ने में कठिनाई नहीं प्रस्थान कुछ भी पढ़े पूरा अच्छा आ जाएगा लोग बिल्कुल पक्के हो जाए तो ये प्रमाद से नहीं होता है प्रमाद त्याग करने पर लगने से होगा जोर नहीं दे तो जितने साल भी हो जाए जहाँ कहीं रहे जहाँ कहीं नहीं <laughs> भूल भी जाएंगे जितने पहले तैयार हुआ एक साल दो साल तीन साल वही बना रहता है भूल जाते हैं पढ़ते समय जितने याद किया था एक साल देखो एक साल दो साल में भूल जाते हैं हाँ परिश्रम करे तो आगे बढ़े परिश्रम नहीं करते तो भूल जाते हैं ये प्रमाद का फल है इसी प्रकार समाधि करते समय जो प्रमाद करने वाले ये साधन भजन में प्रमाद अच्छी तरह से करते हैं हम विषय चिंतन में तो प्रमाद नहीं है किंतु ये चीज साधन में प्रमाद है इसलिए प्रमाद को सुनना पड़ता है किसी एक चीज को लिया उसको ला कर पूरा किया तभी आगे सफलता मिलती है उसमें नहीं कर पाए तो आगे जिसको पकड़े उसमें भी प्रमाद थोड़े दिन लगे फिर बाद में प्रमाद शुरू हो जाएगा असफलता की बीमारी जिसके लग जाए जहाँ जिसको पकड़े उसमें असफलता है असफलता प्राप्त कर रहे तो एक बार दूसरा जिसको लगे उसमें सफलता इसलिए प्रमाद को छोड़ना पड़ता है प्रमाद होने से कार्य सिद्ध नहीं अकरण सतर्क अप्रयत्न और कहा आलोचन काय से चित्त से जो गुरुत्वा तत्वृत्ति शरीर की तत्वृत्ति और चित्त की गुरुत्वाद तो कैसे काय से गुरुत्व कफा देना बात युक्त कफ के कारण कुछ तो न्यूनाधिक होता है तो शरीर हल्का नहीं होता है गुरुत्व है तो उसमें कुछ करना कठिन है बैठना कठिन है स्वस्थ होने पर भी तो बैठना कठिन होता है गुरु तो हुआ तो क्या है स्वस्थ हाँ। तो है अवस्था ठीक है तो भी बैठना कठिन है इसे तो समय जिस समय है उस तो समय ही करना है आगे धीरे धीरे और वृद्धावस्था हमसे अवस्था अधिक होने पर सब अंग भी पेट में भी आँख में कान में डांट में सब में शुरू हो जाते हैं उम्र होने पर इसलिए इसी समय कम समय में अध्ययन साधन सब कुछ करने का समय है अभी नहीं तो गुरुत्व होता है चित्त गुरुतम समता तमगुण से गुरु से तमगुण अधिगम से चित्त नहीं लगेगा बस विक्षेप बहुत है विक्षेप को बंद किया तो निद्रा और आगे कहा अविरति का अर्थ विषय संप्रयोगात्मा गर्ध गर्भ क्या कृष्णा विषय प्राप्ति की बहुत इच्छा तृष्णा आगे भ्रांति दर्शन से विपर्य ज्ञान हो गया अलब्ध कत्म समाधि में अलाभ समाधि की भूमि मधुमत्यादय समाधि भूमि मधुमति मधुप्रति का प्रज्ञा ज्योति अतिक्रांत भावनीय ये आ गया है समाधि चार प्रकार मधुमत्यादि समाधि की भूमि है उसमें प्राप्त भूमि प्राप्त नहीं करे अलब्धा भूमि ये न तो अलब्ध भूमि कर तस्य भाव अलब्ध भूमि कर तुम किसी और भूमि को प्राप्त नहीं करें ऐसे नहीं करने से कुछ थोड़ा तो प्राप्त होता है तो आगे प्रवृत्ति होती है साधन करने बहुत साधन करने के बाद कुछ प्राप्त नहीं मिला तो फिर थक जाता है बहुत लोग ऐसा करते हैं प्राप्त नहीं होने का कारण कुछ अपने में त्रुटि है यदि कुछ ठीक ठीक करे तो कुछ प्राप्त हुआ एक अवस्था को प्राप्त होने पर फिर आगे कुछ करने के लिए रुचि होती है आग्रह बढ़ता है प्रवृत्ति तो होती है प्राप्त नहीं तो अलब्ध भूमि तक तो फिर क्यों होता आगे कुछ करने की इच्छा नहीं होगी लब्ध भूमि यदि तावत शिक्षित मन से कुछ थोड़ी सी प्राप्त होने के बाद वो बड़ा खुश हो गया मिल गया हमको इतने मात्र से आगे प्राप्त आगे चलना है निर्विकल तो समाधि को प्राप्त करना है किंतु थोड़ी सी कुछ तो मिल गया स्थिति हो गई सुस्ती समझने से कोई सपने में कुछ देख लिया निश्चय कर लिया मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया अभी कहीं बैठ कुछ बिछड़ा तो हो गया जट का हो गया मान करे बड़े खुश हो जाए समाधि में बैठते बैठते कुछ थोड़ा हो गया कुछ रूप दिखा कुछ शब्द सुना समझ लिया हमको तो हो गया सुस्थित मान्य से सुस्थित हो गया से मानने वाला समाधि भेद सकता अस्थित समाधि नहीं हो सकती समाधि से भ्रष्ट हो जाएगा तथा सत्यापि भूमि अपाय था इसलिए जो भूमि की प्राप्ति हुई थी उसका भी नाश हो वो भी चल जाएगी इसलिए जो कुछ मिला तो सृष्टि तो हो गया करके खुश होकर के चुप रहना नहीं यशनाथ इसलिए क्या करना समाधि प्रतिलंबे तद अवस्थितम से आदर तस्मा पत्र प्रहित तदवती कुछ प्राप्त होने पर आगे उसमें अवस्थित होकर के चित्त उसमें अवस्थित हो संतुष्ट होकर के मिल गया कुछ करके खुश होकर संतुष्ट रहे नहीं रहे प्रमाद नहीं कर उसमें अवस्थित रहे तो तस्मा पत्र प्रहित फिर आगे प्राप्ति के प्रयत्न करना चाहिए नहीं तो ये कि बीच में अनवस्थित तत्व हो गया अवस्थित नहीं नहीं पहले अलब्ध भूमि का तो हो गया भूमि प्राप्त नहीं है प्राप्त होने के बाद चित्त नहीं रहा स्थिर होकर के तो अनवस्थित तो हो गया वो भी नष्ट हो जाएगी ये दो है अलग भूमि तो का तो अलग है जो एक भी भूमि की प्राप्ति नहीं की और कोई प्राप्त करके उसमें स्थिर नहीं रहा अनवस्थित तो हो गया तो विक्षेप हो गया आगे प्रवृत्त नहीं हुई समाधि नहीं ये विक्षेप है ये सब अंतराया है ओ